और आप हर किस उन लोगों में ना होना जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को झुटला दिया वरना आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे